بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا الأبصار जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है हिकमत वाला है वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्कर कशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया मुसलमानों तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे तो ए बसीरत की आंखें रखने वालों इबरत हासिल करो ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترى فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है मोमिनो खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया सो ये अल्लाह के हुक्म से था और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रसुआ करे और अय मुसलमानों जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है الرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के और पैगंबर के कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है और उन जरूरतमंद महाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं यही लोग सच्चे हैं والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا और उन लोगों के लिए भी जो महाजरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते और उनको अपनी जानों पर मुकदम रखते हैं खा वो खुद भी फाके से हों और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं और उनके लिए भी जो उन महाजरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि अय परवरदिगार हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ फरमा और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना व हसद न पैदा होने दे ए हमारे परवरदिगार तू बड़ा शफकत करने वाला है मेहरबान है